वे मेरे पापों का नाश करे जो सब भूतों के ईश्वर अक्षर और अनिर्दृश्य है और उसी रूप में महत्ता पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता आया हूँ सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ हूँ पुरुष जिनमें प्रवेश करके पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होता उन श्रेहरिक की मैं शरण लेता हूँ जो ब्रह्म जी का शरीर धारण करके देवता असुर मनुष्य सहित संपूर्ण जगत की बार-बार सृष्टि करता है उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ संपूर्ण जगत की योनियों पर जो भगवान जनार्दन ब्रह्म जी का शरीर धारण करके सदा सृष्टि कर्म में संलग्न रहते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिनसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं है जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित है जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है अनंत उन सर्वव्यापी श्रीहरि की मैं शरण लेता हूँ जो संपूर्ण चराचर भूतों में व्याप्त है वे श्रीहरि विष्णु ही मेरे समस्त पापों का नाश करें मेरे द्वारा जो निर्वृत्ति प्रदान कर्म अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है उससे मेरे अनेक जन्मों के कर्मों द्वारा संचित पाप अभी सभी नष्ट हो जाएं रात्रि प्रातः काल मध्यान्ह तथा अपहरण काल में अज्ञानवश मन वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया गया हो वह भी क्षण भर में नष्ट हो जाए जैसे पानी में नमक घुल जाता है उसी प्रकार वह पाप राशि भी विलीन हो जाती है दूसरों को पीड़ा देना और पराई निंदा करना आदि दोष जो मैंने जन्म भर किसी से उनसे तथा दूसरों के धन खेत आदि के प्रीत लोभ होने के कारण क्रोध होने से जो मेरे द्वारा पाप राशि का संग्रह किया गया हो वह पानी में फैलने वाले नमकीन भांति विलीन हो जाते हैं बुधा नमक की भांति विलीन हो जाते हैं विष्णु वासुदेव हरि केशव जनार्दन तथा श्री कृष्ण के नमस्कार है श्री कृष्ण जी को नमस्कार है बार-बार मैं उनको प्रणाम करता हूँ तथा साष्टांग प्रणाम करता हूँ युधिष्ठर इस स्तोत्र को ब्रह्म जी ने अंगीकार ने और अंगीकार से इंद्र ने प्राप्त किया है इधर वशिष्ठ जी ने इस स्तोत्र का राजाओं में श्रेष्ठ नाभा को सुनाया था प्रजापालक श्रीहरि नाभागा ने अतुल प्रभावशाली इस विष्णु स्तोत्र का सदैव पाठ किया है तत्पश्चात नर्मदा के जल में स्नान और अनेक प्रकार के दान करके राजा नाभाग अपनी पुरी हो गए जो इस स्तोत्र द्वारा भगवान जना जनार्दन की स्थिति करता उसका इस घोर संसार सागर में पुनरागमन नहीं होता मेघनाद तीर्थ का प्रकाट्य और उसकी महिमा मार्कंड जी कहते हैं युधिष्ठर प्राचीन त्रितायु की बात है पुलस्त्य पुत्र त्रिलोक विजयी रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था वह वरदान पाकर देवता दानव यक्ष गंधर्व नाग तथा राक्षस सब के लिए अवध हो गया और पृथ्वी पर सब और इच्छा अनुसार विचरण करता था उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मैं नाम से प्रख्यात एक बनोन्मत दानव रहता था रावण वहां मैं को उपस्थित जान उसके समीप जाकर विनित भाव से खड़ा हो गया मैंने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया तब रावण ने मैं से पूछा प्रभु यह किसकी कन्या है इसका नाम क्या है और यह किसके लिए उग्र तपस्या कर रही है मैं बोला राक्षस राज मैं दानवों का राजा मैं हूँ मेरी पत्नी का नाम तेजवती है यह सुंदर कन्या भी मेरी ही है इसका नाम मंदोदरी यह पति के लिए तपस्या कर रही है मैं का यह वचन सुनकर मंदोदरी रावण मैं से विलित होकर बोला महाभाग मैं देवताओं और दानवों का तर्व दल करने वाला पुरुष पुत्र राजा रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कन्या मुझे दे दें उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मैंने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया मंदुधरी को लेकर दुरात्मा पूजित राक्षस दिव्य विमान पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा कुछ काल में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण ने एक पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना की इसके बाद वह उसका नाम मेघनाथ रख दिया मेघनाथ ने बड़े होने पर उसका व्रत आश्रय और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की वह विधि पूर्वक व्रत नियमदान होम जप एवं दिव्य कृषक चंद्रायण आदि व्रत द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस शिवलिंग को स्थापित कर रखा था और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया फिर अपना जब पूरा करके जब वह लंका में जाने को उदित हुआ तब उसने वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे वाले शिव को भी भक्ति पूर्वक ले जाने लगा तब महादेव जी का वह महालिंग नर्मदा के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर पड़ा जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा वह शोभायमान लिंग है वहाँ मेघनाथ ईश्वर के नाम से विख्यात है और जो और जो जल के भीतर गिर पड़ा है उसका नाम मध्येश्वर है वहां मेघनाथ उस लिंग को उठाना चाहता था पर सफल ना हुआ उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस वह राक्षस आकाश मार्ग से लूट गया तभी से वह तीर्थ मेघनाथ तथा मेघारव नाम से विख्यात है उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ है उसके पूर्व भाग में सब पापों का नाश करने वाला गर्ज निरंजन नामक तीर्थ है राजेंद्र जो उस तीर्थ में स्नान करके एक दिन रात का उपवास करता वह सनातन कल्याण का भागी होता है जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है उससे देवलोक में पितृगण बारह वर्षों तक तृप्त रहते हैं जो वहां ब्राह्मण को भोजन कराता है वह योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को पाता है करंजेश्वर तथा कुंडलेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और में मार्कंडे जी कहते हैं राजन पहले सतयुग में ब्रह्म जी के मानस पुत्र मरीचि हुए जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ थे मरीचि से दीर्घ काल के बाद महर्षि कश्यप का जन्म हुआ जो द्वितीय ब्राह्मणों के समान थे उनमें अपने पिता के क्षमा दाम यम दान दत्य सत्य सोच तथा सरलता आदि सभी सद्गुण शोभा पाते थे महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी तरह कन्या का विवाह उनके के साथ कर दिया उनके नाम अदिति और दीनु दनु आदि थे भैया युधिष्ठर इन दक्ष कन्याओं के पुत्र और पोत्रों की संख्या बहुत अधिक है आदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया है इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग प्रेत पिशाच पक्षी यक्ष राक्षस सिंह व्याघ्र वराह आदि को उत्पन्न किया है महाबाहु प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक की भांति-भांति व्याप्त किया है युधिष्ठिर दक्ष कन्या धनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम करंज था नाव दानव करंज में राजा बलि की भांति सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्यमान थे उसने बड़ी भारी तपस्या की तब महादेव जी ने उसे दर्शन देकर कहा करंज तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो करंज बोला प्रभु मुझे पुत्र और पौत्रों की साथ धन दीजिए तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव वृषभ पर आरूढ़ वहां से अंतर ध्यान हो गए तब वह आदित्य भी पूर्वक अपने अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को लौट आया तभी उसे स्थान की करंजेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई राजन वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूट जाता है उस समय तीर्थ में देवता और पितरों का तर्पण किया गया है यह निश्चय है कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल वह प्राप्त करता है जो वहां प्राण त्याग करता है जो वह बीस हजार वर्षो तक स्वर्णलोक में निवास करता और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर मध्य धनवान वेद वेदांगों का ध्वज्य तत्वज्ञ शास्त्र विशारद राजा अथवा राजा का राजा के तुल्य होता है मार्कंड जी कहते हैं युधिष्ठर प्राचीन त्रेता युग में पुनश्च पुत्र विश्वा ने विश्वा ने भरद्वाज मुनि की पुत्री के साथ विवाह किया उससे धनजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पुत्रोचित गुणों से संपन्न था उसके जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और उस समय इस प्रकार कहा हे अनह वह बालक तुझे विश्वसर्वा से विश्ववा से प्रकट होकर मेरा पुत्र हुआ है इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुत्र को विश्रवण नाम दिया है यह सब देवताओं के धन का रक्षक होगा